फिरौन बोला तुम इन पर मेरे इजाजत देने से पहले ही ईमान ले आए मुझे यकीन है कि यह मूसा तुम सब का सरगना है जिसने तुम्हें जादू सिखलाया है अब मैंने भी पक्का इरादा कर लिया है कि तुम्हारे हाथ पांव मुखालिफ समतों से काटूंगा और तुम्हें खजूर के तनों पर सूली चढ़ाऊंगा और तुम्हें यकीनन पता लग जाएगा कि हम दोनों में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर पा है